चाहिए आंखें न देख पाती हो तो आंखों को और खोलिए कान न सुन पाते हो तो कानों को और प्रशिक्षण दीजिए भोजन में न मिल पाता हो परमात्मा तो अस्वाद पर मत लौट जाइए क्योंकि अस्वाद अंगूरों को खट्टा कहने की दलील है तो स्वाद को और शिक्षित कीजिए स्वाद को और साधिए क्योंकि जो लोग जानते थे उन्हें अन्न में भी ब्रह्म दिखाई पड़ सका है जो लोग जानते हैं उन्हें स्वर में भी ब्रह्म दिखाई पड़ सका है जो लोग जानते हैं उन्हें रूप में भी उसके ही दर्शन हो सके सौंदर्य भी उन्हें उसकी ही खबर बन गई सब कुछ उसकी ही खबर बन गया है शरीर का सौंदर्य भी भीतर छिपे परमात्मा की खबर बन जाता है लेकिन देखने वाली आंख चाहिए आंख मत फोड़िए आंख को शिक्षित करिए इंद्रियों की शिक्षा है साधना इंद्रियों का विरोध नहीं दमन नहीं सप्रेशन नहीं एक एक इंद्री ऐसी साधी जा सकती है कि उसके द्वार से प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बन जाए तो मैं आपसे कहूंगा स्वाद है तो पूर्ण स्वाद लीजिए अस्वाद नहीं भोजन कर रहे हो तो ऐसा करिए कि भोजन करना ही एकमात्र कृत्य रह जाए सारा प्राण सारी देह सारी शक्ति समग्र चेतना भोजन करे जरा सा स्वाद छूट ना जाए स्वाद में इतनी लीनता इतनी तल्लीनता इतना आत्मभाव फिर आपको पता चलेगा कि अन्न ब्रह्म हो जाता है फिर आपको पता चलेगा कि स्वाद भी उसकी खबर है और तब भोजन करके अगर आपका हृदय धन्यवाद से भर जाए परमात्मा के लिए तो आश्चर्य नहीं तब सौंदर्य को भी देखिए और परिपूर्ण तल्लीनता से परिपूर्ण एकात्म भाव से और तब आपको सौंदर्य के पीछे अरूप के दर्शन होने लगे तो आश्चर्य नहीं रूप तो केवल ऊपर की खोल है भीतर अरूप छिपा है जब आपको कोई फूल सुंदर लगता है तो क्या सुंदर लगता है वहां क्या आपको फूल की पखड़िया उनमें दौड़ते हुए केमिकल खनिज क्या सुंदर लगता है नहीं फूल की पखड़ियां भी नहीं फूल का पदार्थ भी नहीं फूल के खनिज भी नहीं फूल का रसायन भी नहीं लेकिन उन सबके मेल से जो अरूप है उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाती है वो जो पीछे छिपा है उस सब के मेल से वो जो पीछे छिपा है उसकी खबर मिलनी शुरू हो जाती है जब आप वीणा सुनते हैं तो तारों की टंकार अच्छी लगती है हाथों का प्रभाव क्या अच्छा लगता है नहीं लेकिन स्वरों के माध्यम से वो जो स्वरों के बीच में अस्वर छिपा हुआ है शून्य छिपा हुआ है स्वरों के बीच बीच में वो जो शून्य छिपा हुआ है उसकी खबर मिलनी शुरू हो जाती है वो जो संगीत के पीछे निशब्द छिपा हुआ है संगीत से वो प्रकट होने लगता है जीवन की ये अद्भुत लीला है कि यहां जीवन में जो कुछ भी प्रकट होता है वो कंट्रास्ट में विरोध में प्रकट होता है स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो काला तख्ता लगा लेते हैं सफेद खड़िया से लिखते हैं उस पर सफेद खड़िया काले की पृष्ठभूमि में प्रकट होती है पूर्णता से प्रकट होती है सफेद तख्ते भी बना सकते हैं लेकिन तब पढ़ना मुश्किल हो जाएगा सफेद खड़िया लिखेगी सफेद तख्तों पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा जीवन हमेशा कंट्रास्ट में प्रकट होता है आत्मा को प्रकट होना है तो शरीर में प्रकट होती शरीर काली बैकबोर्ड की तरह भूमि बन जाती है आत्मा के प्रकट होने के लिए सौंदर्य को प्रकट होना है तो रूप में प्रकट होता है ताकि अरूप कंट्रास्ट ले ले वो दिखाई पड़ सके शून्य को प्रकट होना है तो संगीत में प्रकट होता है उल्टी है बात संगीत तो ध्वनि है शून्य निर्ध्वनि है लेकिन निर्ध्वनि को प्रकट होना हो तो ध्वनि का माध्यम ध्वनि का बैकग्राउंड ध्वनि की पार्श्वभूमि चाहिए परमात्मा को प्रकट होना है तो पदार्थ का संसार चाहिए जीवन हमेशा पृष्ठभूमि मानता है अभिव्यक्ति के लिए अगर पृष्ठभूमि ना हो तो जीवन प्रकट नहीं हो सकता जीवन की सारी अभिव्यक्ति कंट्रास्ट में है लेकिन अगर हम तख्ते को मिटा दें तो फिर सफेद अक्षर भी विलीन हो जाएंगे अगर हम शरीर के शत्रु हो जाएं तो आत्मा भी हमसे दूर हो जाएगी अगर हम संसार के दुश्मन हो जाएं तो हम परमात्मा की तरफ जाना भी बंद हो जाएंगे ये सीधा सा गणित दिखाई नहीं पड़ सका ये अत्यंत दो दो चार जैसी बात दिखाई नहीं पड़ सकी क्यों नहीं दिखाई पड़ सकी न पढ़ने के कुछ कारण है हमें भी वही बात स्वीकृत हो जाती है वही बात जो हमारी जीवन स्थिति के अनुकूल पड़ती है हम सब भी हारे हुए लोग हैं इसलिए हारे हुए लोगों का संदेश हमें ठीक सुनाई पड़ जाता है हम सब भी पराजित लोग हैं इसलिए पराजित लोग जब कहते हैं कि जीवन आसार है तब हमें भी ये बात बिल्कुल ही ठीक मालूम पड़ने लगती है जो हमारी आदत का हिस्सा हो जाता है वही हमारी समझ में आता है शेष हमें समझ में नहीं आता मैंने सुना है एक मछुआ जीवन भर मछलियों को मारने का धंधा करता रहा था एक बार देश की राजधानी में पहुंच गया वो राजधानी घूम घूम के देखने लगा चकित विमुक्त फिर वो उस रास्ते पर पहुंच गया जहां देश के राजधानी के इत्र बिकते थे सुगंधियां बिकती थी उस सुगंधियों का बाजार था वो वहां पहुंच गया जाते ही उसे अपनी नाक बंद कर लेनी पड़ी क्योंकि उसे बड़ी बदबू मालूम पड़ी उसने मछलियों की सुगंध को ही जाना था उसी को वो सुगंध कहता था वो बहुत हैरान हो गया लेकिन भागने की भी कोशिश की उसने कि बाजार से निकल जाए लेकिन लंबा बाजार था राजधानी का बाजार था वहां दुनिया के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुगंधियां थी आखिर वो बेहोश होकर गिर पड़ा गंध इतनी तेज मालूम होने लगी कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा भीड़ इकट्ठी हो गई पास के दुकानदार कीमती से कीमती सुगंधियां लेके आ गए कि शायद सुगंध सुघाने से उसे होश आ जाए उन्हें पता भी नहीं कि वो सुगंधों की वजह से ही बेहोश हो गया वो उसे सुगंधियां सुघाने लगे वो तड़फने लगा हाथ पैर फेंकने लगा उसको तो बोलते भी नहीं बन रहा है वो और बेहोश हो गया और तभी उस भीड़ में एक आदमी बाहर आया जो पहले मछुआ रह चुका था उसने कहा कि मित्रों तुम बड़ा गड़बड़ किए दे रहे हो वो आदमी मर जाएगा आप हटो अपनी सुगंधियां दूर हटाओ इन्हीं के कारण वो बेहोश हो गया लेकिन उसके पास उसका झोला था जिसमें वो मछलियां बाजार बेचने लाया था उसने उस पर पानी थोड़ा छिड़का और उस आदमी के नाक के पास वो झोला रख दिया उसने गहरी सांस ली आंख खोली और उसने कहा दिस इज रियल परफ्यूम ये है असली सुगंध स्वाभाविक हमें वही बात ठीक मालूम पड़ती है जिसके हम आदि हैं हमें वही सुगंध मालूम पड़ती है जिसे हम जानते हैं चूंकि सभी मनुष्य जीवन की कला में दीक्षित नहीं है और पराजित हो जाते हैं इसलिए जब कोई पराजित व्यक्ति खड़े होकर कहता है असार है सब व्यर्थ है सब छोड़ देने जैसा है सब तो हाथ हमारे भी उठ जाते हैं कि आप ठीक कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं जीवन की कला ही नहीं सिखाई गई जीवन एक कला है जन्म के साथ ही जीवन नहीं मिल जाता जीवन एक लंबा प्रशिक्षण है और सूक्ष्मतम कला है जीवन की इस जीवन कला का दूसरा सूत्र मैं आपसे कहना चाहता हूं जो भी है जो भी उपलब्ध है इंद्रियों से जो भी आता है उस सबको अत्यंत आनंद से अत्यंत ग्रेटिट्यूड से स्वीकार करें और आप पाएंगे कि जीवन से आपका संबंध होना शुरू हो गया हमारे भाव तोड़ते हैं हमारे भाव जोड़ सकते हैं हमारा दुर्भाव तोड़ देता है हमारा सद्भाव जोड़ देता है जीवन के प्रति सद्भाव मैं उन सारे लोगों को परमात्मा के शत्रु कहता हूं इनिमीज ऑफ गॉड जो जीवन के प्रति दुर्भाव सिखाते हैं कल ही एक मित्र आए उन्होंने कहा कि मैं तो साठ वर्ष का हो गया हूं लेकिन अब भी सुंदर स्त्री को देखता हूं तो बेचैन और परेशान हो जाता हूं जिंदगी भर मैंने कोशिश की है कि अपने मन को स्त्री से अलग कर लू अलग कर लू अलग कर लू लेकिन इस उम्र में भी स्त्री मेरा पीछा कर रही है मैंने कहा वो पीछा करती ही चली जाएगी वो आप कब्र में चले जाएंगे और वो पीछा करती चली जाएगी आप पीछा करवा रहे हैं जीवन की कला स्त्री से भागना न सिखाती सौंदर्य से आंखें फेरना न सिखाती बल्कि इस जिज्ञासा में और ऊपर उठाती कि जो सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है वो कहां से आ रहा है वो सौंदर्य क्या है और अगर एक स्त्री में भी सौंदर्य दिखाई पड़ा हो दिखाई पड़ सकता है फूल में दिखाई पड़ सकता है तो स्त्री में क्यों नहीं पुरुष में क्यों नहीं आंखों में क्यों नहीं शरीर में क्यों नहीं क्योंकि फूल भी एक शरीर है चांद भी एक शरीर है ताए भी एक शरीर है सागर भी एक शरीर है वृक्ष भी एक शरीर है तो आदमी के शरीर का ही कसूर क्या है लेकिन अगर सौंदर्य का विरोध ना होता अगर निंदक की दृष्टि ना होती तो शायद उस सौंदर्य में और गहरे प्रवेश होता है वो सौंदर्य के ध्वनि पर सवार होकर मन और आगे जाता है और उस जगह पहुंच जाता जहां से सारा सौंदर्य आता है उस अरूप पर पहुंच जाता जहां से जीवन के सारे आनंद और सारी खुशियां आती तो शायद फिर एक स्त्री मंदिर बन जाती उसके भीतर परमात्मा दिखाई पड़ जाता है फिर चाहे एक पुरुष प्रभु बन जाता उसके भीतर परमात्मा दिखाई पड़ जाता है तो मैं नहीं कहता हूं कि आप भागें सौंदर्य से रूप से संगीत से सुगंध से सुबास से स्वाद से किसी से भी मत भागे सभी के भीतर खोज करें कि जो आकर्षित कर रहा है जरूर वहां कहीं भीतर परमात्मा होगा जहां भी आकर्षण है जहां भी ग्रेविटेशन है स्मरण रखें कि वहां कहीं कोई परमात्मा का केंद्र होगा अन्यथा कोई आकर्षण संभव नहीं है तो आकर्षण को सूचना समझें और भीतर और भीतर और गहरे और गहरे प्रवेश करें चित्त को जाने दें और धीरे से आप पाएंगे कि सारी खबरें उसकी खबरें हैं फूल से भी वही झांकता है सागर से भी वही चांदारों से भी वही आदमी से भी वही स्त्री से भी वही बच्चों से भी वही सबसे वही झांकता है उसकी खोज करनी है तो द्वार खुले होने चाहिए रिसेप्टिविटी ग्राहकता पूर्ण होनी चाहिए कि सब तरफ से जो संदेश आएगा उसे मैं अपने हृदय तक ले जाने को हमेशा तैयार हूं ये मनुष्य जाति बिल्कुल दूसरी मनुष्य की जाति हो सकती है ये पूरी ह्यूमैनिटी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकती है एक रूपांतरण हो सकता है लेकिन नहीं निंदकों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है जीवन के प्रशंसकों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है तो ये दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं इन तीन दिनों में तो आप प्रयोग करेंगे ही द्वार खोले मन का समस्त आकर्षण के लिए द्वार खोल दे जीवन के समस्त स्वाद के लिए द्वार खोल दे और जीवन के प्रत्येक अनुभव में आनंद की गहरी से गहरी खोज और आत्मलीनता खोजे तो लीनता खोजे और जीवन की जो मधु वर्षा हो रही है उसमें डूब जाएं, उसमें एक हो जाएं, उससे जुड़ जाएं, उसके और अपने बीच कोई फासला न रखे जैसा एक सूखा पत्ता हवाओं में उड़ता है हवाएं पूरब ले जाती हैं तो पूरब चला जाता है हवाएं पश्चिम ले जाती हैं तो पश्चिम चला जाता है हवाएं जमीन पर गिरा देती हैं तो जमीन पर गिर जाता हवाएं आकाश में उठा देती हैं तो बादलों में उठ जाता एक सूखे पत्ते हो जाएं और जीवन के सारे रस जीवन का सारा आनंद जीवन के सारे अनुभवों को गुजरने दें कोई बाधा न डाले कहीं कोई बैरियर खड़ा न करें कहीं कोई दीवार न बनाए जीवन के सागर में बह जाएं तो स्मरण रखें कि वो सागर अंततः परमात्मा तक ले जाने वाला बन जाता है जीवन में जो बहते हैं वे तो कभी पहुंच जाते हैं लेकिन जीवन के विरोध में पीठ करके जो खड़े हो जाते हैं वे न कभी पहुंचे हैं न कभी पहुंच सकते हैं न कभी पहुंच सकेंगे ये दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं तीसरे सूत्र पर कल सुबह हम बात करेंगे इसे थोड़ा प्रयोग करें तो ही पता चलेगा वो जो भीतर निंदक बैठा है वो बहुत इंकार करेगा कि बहुत खतरा हो सकता है वो जो भीतर कंडेमनेशन बैठा है वो कहेगा भूल के मत पड़ना इसमें तो मुश्किल हो जाएगी इसमें तो सब गड़बड़ हो जाएगा इसमें तो साधना सब भ्रष्ट हो जाएगी वो निंदक बहुत जोर से कहेगा भीतर क्योंकि वो आज का नहीं है वो हमारे कलेक्टिव माइंड का हिस्सा है वो हमारे समूह मन का हिस्सा है वो कोई पांच हजार वर्ष से हमारे भीतर बैठा है और उसकी वजह से जीवन एकदम एकदम विषाक्त पायजनस हो गया है जीवन की कोई खुशी अंगीकृत नहीं रही कोई गीत अंगीकृत नहीं रहा लाइफ निगेटिव है वो हमारा जो दृष्टिकोण है और लाइफ अफर्मेशन चाहिए रिवरेंस फॉर लाइफ चाहिए जीवन के प्रति आदर सम्मान जीवन के प्रति प्रेम अनुग्रह का भाव चाहिए धन है वे लोग जो जीवन के प्रति अनुग्रह से भरते क्योंकि जीवन में जो भी श्रेष्ठ है सुंदर है शुभ है वो सभी उनको उपलब्ध हो जाता है इसके बाद हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे तो दो चार बात समझ लें फिर हम अलग अलग ध्यान के लिए बैठें मेरे लिए तो ध्यान भी जीवन की स्वीकृति है अंगीकार है ये हवाएं हैं ये आएंगी ये गुजर जाएंगी आवाजें हैं पैदा होंगी विलीन हो जाएंगी सागर का गर्जन चलता रहेगा कोई पक्षी बोलेगा इस सब को परमात्मा का आशीर्वाद समझ के अंगीकार कर लेना है इसे स्वीकार कर लेना है अब तक ध्यान के नाम से जो भी सिखाया गया है वो रेसिस्टेंस है वो प्रतिरोध है अब तक यही सिखाया गया है कोई आवाज न सुनाई पड़े चींटी काटे तो पता न चले पत्थर की तरह हो जाना है कुछ पता ना चले ये मर जाने की प्रक्रियाएं आदमी मर जाता है तब चींटी भी काटती तो पता नहीं चलता हवा भी चलती है तो पता नहीं चलता बच्चा भी रोता है तो पता नहीं चलता जिंदा आदमी को तो पता चलेगा और जितना ज्यादा जिंदा होगा उतना ज्यादा पता चलेगा उतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी उसकी उतनी उसकी संवेदना बढ़ जाएगी जितना शांत होगा जितना जीवंत होगा जरा सी ध्वनि और उसके प्राणों में आंदोलन होगा जरा सी आवाज उसे सुनाई पड़ेगी एक सुई गिर जाएगी तो भी उसे सुनाई पड़ेगी जीवन का लक्षण तो संवेदना है मृत्यु का लक्षण संवेदना नहीं है लेकिन अब तक हमको इस तरह की बातें ही सिखाई गई कि जिससे डेड हो जाओ मुर्दे की तरह हो जाओ नहीं मैं आपको और भी जीवंत देखना चाहता हूं इतना जीवंत कि वृक्ष का एक छोटा सा पत्ता भी हिले तो पता चले अब तक रेसिस्टेंस बताया गया ध्यान का अर्थ है प्रतिरोध अपने को दबाओ हटाओ कुछ सुनाई ना पड़े कुछ ज्ञात ना हो सब तरफ से अपने को बंद कर लो एक क्लोजिंग मैं कह रहा हूं ध्यान है एक ओपनिंग द्वार का खोलना बंद करना नहीं खोल दें द्वार और जो भी आता है चुपचाप देखते रहें बस एक साक्षी रह जाएं, एक विटनेस रह जाएं। जितने शांत होंगे जितने साक्षी होंगे उतना ही पाएंगे कि जीवन के द्वार टूटते जा रहे हैं एक मेल होता जा रहा है सब जुड़ता जा रहा है धीरे धीरे पता चलेगा सारी परिधि टूटती जा रही है सारी सीमाएं गिरती जा रही हैं और असीम के साथ मिलन होता चला जा रहा है असीम के साथ मिलन है समाधि और असीम की तरफ बढ़ने के प्रयास का नाम है ध्यान लेकिन असीम की तरफ वही बढ़ सकता है जो सारा विरोध छोड़ दे क्योंकि विरोध सीमा बनाता है रेसिस्टेंस सीमा बनाता है कोई रेसिस्टेंस नहीं सब स्वीकार एक स्वीकृति भर मन में रह जाए टोटल एक्सेप्टेंस रह जाए मन में सब स्वीकृत है और मैं मौन बैठा हुआ हूं देख रहा हूं देख रहा हूं जान रहा हूं केवल साक्षी तभी हम यहाँ बैठेंगे सब एक दूसरे से थोड़े फासले पर हो जाएं ताकि ये जो थोड़ा सा अवसर मिला है सभी के जीवन में नहीं है आ गए हैं तीन दिन तो उसका पूरा उपयोग हो जाए थोड़े फासले पर हो जाएं थोड़े एक दूसरे को कोई छूता हुआ ना हो चुपचाप बिना बातचीत किए कहीं भी बैठ जाए चुपचाप आराम से कहीं भी बैठ जाएं चुपचाप आराम से बैठ जाए जैसा सुविधापूर्ण हो वैसे बैठ जाए वृक्ष से टिकना हो टिक जाए जैसा मन हो जैसी मौज हो वैसा चुपचाप शरीर को शांत छोड़कर बैठ जाए फिर आंख आहिस्ता से बंद कर ले धीरे से पलक छोड़ दें अपने आप पलक बंद हो जाए आंख बंद कर ली है शांत बैठ गए हैं अब जीवन के प्रति सारा विरोध छोड़ दें मन के द्वार खुले छोड़ दें हवाएं आएंगी और मन के द्वार से गुजर जाएंगी कोई पक्षी बोलेगा आवाज गूंजेगी और निकल जाएगी आप केवल साक्षी रह गए हैं चुपचाप बैठे देखते रहे देखते रहे सुनते रहे सुनते रहे बस सुनते रहे एक साक्षी एक विटनेस और कुछ भी नहीं धीरे धीरे मन बिल्कुल शांत हो जाएगा सुने हवाओं को सुने सागर के गर्जन को सुने प्रभु की बहुत आवाजें हैं सुने ये पक्षी बोलने लगा सुनते रहे सुनते रहे और मन शांत होता जाएगा सुनते रहें दस मिनट के लिए बिल्कुल सुनते रह जाएं सब मिट जाएगा हवाएं रह जाएंगी पक्षी रह जाएंगे आप मिट जाएंगे जगत रह जाएगा आप नहीं रह जाएंगे जीवन रह जाएगा आप नहीं रह जाएंगे छोड़ दें सब चुपचाप सुनते रह जाएं दस मिनट के लिए सुने से रहे एक साक्षी भर मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा मन बिल्कुल सन्नाटे से भर जाए मन बिल्कुल गहरा शांत हो जाए मन शांत हो गया सुनते रहे रहे सुनते रहे हवाएं रह गई सागर का गर्जन रह गया आप कहा हैं हवाएं रह गई सागर का गर्जन रह गया पक्षियों की आवाज रह गई आप कहा हैं सुनते रहे सुनते रहे धीरे धीरे सब शांत होता जा रहा है मन शांत हो गया है आप बिल्कुल मिट गए हैं मन शांत हो गया है मन बिल्कुल शांत हो गया एक साक्षी भर रह गए मात्र एक साक्षी रह गए सुनते रहे सुनते रहे मन और गहरा शांत होता चला जाए हवाएं रह गई सागर का गर्जन रह गया पक्षियों की ध्वनिया रह गई आप मिट गए धीरे धीरे दो चार गहरी श्वास लें दुलारी उसे जरूरत देखो धीरे धीरे दो चार गहरी सांस लें फिर आहिस्ता से आंख खोलें धीरे से आंख खोलें बैठक समाप्त हुई